भगवान किसके जीवन में किस निमित्त से अपनी करुणा वरुणा और अपना उत्तम अनुभव करने की प्रीति जगा दे ये कहना मुश्किल है भगवान मनु जी का पुत्र गुरु आश्रम में रहता था गुरु आश्रम की गाय चराने जाता है एक तो अवतार स्वरूप मनु महाराज का पुत्र और दूसरा गुरु आश्रम में प्रशग्र प्रशग्रह के गुरु आश्रम निवास के दिनों में गायों की गाय चराने की सेवा बड़े उत्साह से करता था जंगल में शेर चित्ते आदि गायों को न सताए इसलिए तलवार भी रखता था संध्या का समय हो गया थोड़ा अंधेरा सा छा रहा था एकाएक बाघ आया गाय पर चपट पड़ा तलवार निकाली अंधेरे में गाय और बघेरा को अलग करने वाली प्रकाश की किरण न मिलने के कारण जोर से तलवार का घाव किया बघेड़ा का तो कान कट कर गिरा उधर लेकिन गाय भी मर गई उसी तलवार से ब्राह्मणों ने और साधुओं ने आश्रम वासियों ने हल्ला पुकारा कि गौ हत्यारा है इसको वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं आश्रम में रहने का अधिकार नहीं भगवान मनु का पुत्र है लेकिन तिरस्कृत हो गए बघेड़ा का कान कटा हुआ तो दिखा लेकिन गाय भी तो मरी गाय मारने का उद्देश्य नहीं होगा इसका ये सब जानते थे और बाघ का कान का प्रमाण भी था फिर भी विरोध ऐसा हुआ कि तिरस्कृत हुए सन्निमित्त भगवान ने वैराग्य दिया बाहर से तो कुप्रचार हुआ लेकिन भीतर से भगवान ने ये एहसास करा है कि संसार तो संसार है जिनके लिए इतना तुम तड़पते हो या चाहते हो वो तुम्हारे को कब कहा उठा के किस निमित्त से भगवान कैसा विवेक जगा देते उसका विवेक जग गया बोले गुरु आश्रम से अब मैं राज्य वैभव का काम काज करता न जाने उस कर्म बंधन से भोग वासना से कब मेरी जान छूटती भगवान ने अभी तिरस्कार करवा के मेरे को राज्य वैभव के सुख ऐश आराम के दलदल से बचाकर अपने स्वच्छ सुख में बुलाया है विवेक जगा मनुपुत्र पुत्र संसार का त्याग करके एकांत अरण्य में आत्मविद्या के दाता गुरु के चरणों में जा पहुंचा लौकिक विद्या सिखाने वाले गुरु के यहां से छलांग लग गई लौकिक विद्या का फल अनित्य है दुख रूप है लेकिन आत्मविद्या का फल नित्य है सुख रूप है शाश्वत है परम पद को दिलाने वाला है राजपुत्र ने राज वैभव की असारता जान ली थी इसलिए उसको अपना राजकुमार पद अथवा राज तख्त की महत्ता ठुकराने में देर नहीं लगी और फकीरी धारण कर ली जैसा जो मिले रूखा सूखा खा ली ब्रह्म विद्या के दाता गुरु के आश्रम में रहने लगे प्रवृत्ति प्रधान लौकिक विद्या का त्याग करके निवृत्ति प्रधान नारायण के सुख में ले जाने वाली आत्मविद्या में पहुंच गए शरीर अनित्य है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर उन शरीरों से जो कुछ बल योग्यता सफलताएं मिली वो भी अनित्य है लेकिन उनको जानने वाला परमात्मा देव मेरा नित्य है वो सत स्वरूप है चेतन रूप है आनंद रूप है आकाश के नाए विभू है व्याप्त है सा विद्या या विमुक्त है विद्या वही है जो विमुक्त कर दे बंधनों से मुक्त कर दे दुखों से मुक्त कर दे चिंताओं से मुक्त कर दे वासनाओं से मुक्त कर दे पाप ताप से मुक्त कर दे भगवान नारायण जिस सुख में आप्त काम पूर्ण काम और संकल्प मात्र से सबका मंगल कर देते हैं ऐसी ईश्वरीय विद्या को ब्रह्म विद्या बोलते उस ब्रह्म विद्या के आगे दुनिया की सारी विद्याएं बहुत बहुत साधारण हो जाती सा विद्या या विमुक्त है सम्राट का पुत्र महासम्राट होने को जा रहा है तो मनु पुत्र संसारी प्रवृत्ति पढ़ाने वाले गुरुकुल से विदा हो गए और आत्मविद्या आत्म ध्यान आत्मचिंतन थोड़ी बहुत आश्रम की सेवा ऐसा करते करते अविद्या अज्ञान मिटाने वाली ब्रह्म विद्या मिली कि यद दृश्यम तत् अनित्यम जो दिखता है वो परिवर्तित होता है प्रकृति का है लेकिन जिससे दिखता है वह परमात्मा चैतन्य अपना आत्मा है अजपा गायत्री सतत चल रही है श्वास अंदर जाता है तो सो बाहर आता है तो हम सो हम हंसा ये तो उपासना है लेकिन तब तो ज्ञान एक बार हो जाए तो फिर न से पुनरावर्तते फिर उसका पुनरागमन नहीं होता मनु महाराज के सुपुत्र को असावधानी से बघेड़े को तलवार मारते थे बघेड़े का तो कान कटा लेकिन गाय मर गई विरोधियों ने जमकर विरोध किया और विरोध के निमित्त सा निमित्त भगवान ने वैराग्य दिया भगवान का अनुग्रह न जाने किस निमित्त आता है तुम्हारा विरोध हो अपमान हो झूठे आरोप लगे तो समझ लेना भगवान ये संसार की माया से हमें बचाना चाहते कहीं संसार में सफलता नहीं मिलती तो समझो भगवान तुम्हें आत्म सफलता की तरफ बुला रहे ऐसा करके भगवान में लग जाए तो कल्याण है सन्निमित विवेक तो गुरु की सेवा करते करते प्रमाद हो गया और उस प्रमाद में भी भगवान ने सानिमित्त वैराग्य जगाया और मनुपुत्र ने परमात्मा साक्षात्कार कर लिया पढ़ो वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जगत में सुख की इच्छा करना व्यर्थ है जीव जब पहले जन्म लेता है तब भी दुख सहता है फिर जन्म लेकर जब मूर्ख और नीच बाल अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ विचार नहीं होता उसमें दुख पाता है और कुछ शक्ति नहीं होती उससे भी दुख पाता है जब यौवन अवस्था आती है तब काम क्रोध लोभ और मोहरूपी निशाचर विचरते हैं और तृष्णारूपी पिशाची निघेरती है मनुष्य शरीर में माँ के गर्भ में जाता है द्रव्य जैसा और अठारह उसे पकाकर हड्डियां बडियां बनाकर बालक बनाती नौ नौ मैंने नेवे में पड़ा रहता कुम्हार की तो दो पांच दस दिन तपती जलती होगी लेकिन ये बच्चा हम बनने में नौ नौ महीने हमने कष्ट सहा गर्भाग्नि में पक कर आयो फिर बाल्यावस्था के दुख दांत आए दस्त हुए पेट में दर्द है सिर में कुछ है कुछ गड़बड़ी है बता नहीं सकते रो रहे हैं तो बच्चे को कहाँ पीड़ा है रोते समय उसका जहां हाथ जाता है वहां उसको पीड़ा है ऐसा समझ लेना चाहिए फिर नाक बहता है कि नाक की गंदगी मुंह में आती कहीं पैर गंदे में आ जाता है न अपना गंदगी धो सकता है न कुछ कह सकता है ऐसी मूड अवस्था से गुजरते गुजरते फिर किशोर बाल्य अवस्था से गुजरे किशोर अवस्था में आए भी न जाने दिन में कितनी बार अपमान दुख कितनी बार मूर्खता होती ऐसे करते करते यौवन आता है यौवन में फिर काम क्रोध लोभ ये बनूंगा ये पाऊंगा ये पाऊंगा करते करते कुछ बना कुछ पाया लेकिन कुछ दुश्मन कुछ विकार कुछ मित्र आखिर से बुढ़ापे की कगार पे लाकर खड़ा कर जोड़ों में दर्द हो रहा है नींद नहीं आती है पेट भारी है थकान है ये ऑपरेशन है ये फलाना